संदूर पर यह आइटम आपने सुनी इन बच्चों को देखकर आपको हैरत हुई होगी कि जेनेटिकली कुछ ना कुछ ज़रूर होता है बहुत ही अच्छा इन्होंने संतूर बजाया और इनके साथ बहुत सी आशाएं बंधी हुई हैं कविराज और उनके साथ उनके भाई उपनीत सिंह तबले पे संगत कर रहे हैं राग यमन अगली आइटम की हम तैयारी कर रहे हैं बहुत ही दो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं सुरनाथ अकेडमी के ताज शहनाई पे आपके सामने पेश करेंगे किरण पाल सिंह और गुरख सिंह ये गुरुदेव सिंह से सीख रहे हैं और सुरजीत सिंह से और खुशी की बात यह है कि इनकी आगामी जो तालीम है वो मारूफ शहनाई नवाज उस्ताद बसमिल्ला खां के साथ होने जा रही है ये सारी कृपा सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज है जिनके माध्यम से इनकी आगामी तालीम होगी तबले पर संगत करेंगे नविंद्रपाल पाल सिंह जी ये सरदार गुरुदेव सिंह के पुत्र हैं इन्हें प्यार से सब लवली कहते हैं और ये सीख रहे हैं पिंकी से पिंकी ने आपको पता है बहुत बहुत बड़ा नाम पाया है बड़े बड़े कलाकारों के साथ वो संगत कर रहे हैं और बनारस घराने का इनका अंदाज है पंडित किशन जी महाराज से इन्होंने तालीम हासिल की है तो आइए तार शहनाई सुने राग बिहाग पेश करेंगे तो दोस्तों please welcome these two young artist thank you